और रात दिन के आने जाने में और जो अल्लाह ने आसमान से रिस्क पानी नाजिल फरमाया फिर उससे जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा फरमाया और हवाओं के फेरने में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल रखते हैं